गज़ल देखिए हालात हाजरा भाई मुलादा कीजिए उसका अनुमान है मेरा दुश्मन बहुत सियाना है अगर आप सियाने हैं तो उस दुश्मन का पता लगा लेंगे मेरा दुश्मन बहुत सियाना है दुश्मनी भी उसे निभाना है दुश्मनी भी उसे निभाना है दोस्त का रूप भी बनाना है कुछ तो दुनिया को भी दिखाना है मेरा दुश्मन बहुत से आना है मेरा दुश्मन बहुत से आना है दुश्मनी भी उसे निभाना है दोस्त का रूप भी बनाना है कुछ तो दुनिया को भी दिखाना है मेरा दुश्मन बहुत से आना है शफकतन हमको ढील भी देना शफकतन मुलादा कीजिए शफकतन हमको ढील भी देना वक्त पर डोर खेच भी लेना शफकतन हमको ढील भी देना वक्त पर डोर खींच भी लेना कितना कसबल है आजमाना है मेरा दुश्मन बहुत से आना है आजमाना है मेरा दुश्मन बहुत से आना है खुल के हथियारों बनाता है फिर उन्हें बेचता है खाता है खुल के हथियार वो बनाता है फिर उन्हें बेचता है खाता है कारोबार उसका ये पुराना है मेरा दुश्मन बहुत से आना है दो मालिक को वरगलाता है दो ममालिक को वरगलाता है अमन से जंग को भिड़ाता है दो ममालिक को वरगलाता है अमन से जंग को भिड़ाता है असलहा तो कहीं खपाना है मेरा दुश्मन मेरा दुश्मन बहुत सियाना है दो ममालिक को वरगलाता है अमन से जंग को भिड़ाता है असले हाथों कहीं खपाना है मेरा दुश्मन बहुत सियाना है वो पसे उजरे लंग लड़ता है वो पसे उजरे लंग लड़ता है अमन के हक में जंग लड़ता है वो पसे उजर लंग लड़ता है आमन के हक में जंग लड़ता है दुश्मनी उसकी दोस्ताना है दुश्मनी उसकी दोस्ताना है मेरा दुश्मन बहुत से आना है वो पसे उजर लंग लड़ता है अमन के हक में जंग लड़ता है दुश्मनी उसकी दोस्ताना है मेरा दुश्मन बहुत सियाना है सीटी बीटी की बात करता है सीटी बीटी की बात करता है मीठी मीठी सी बात करता है सीटी बीटी की बात करता है मीठी मीठी सी बात करता है चाल किस दर्जा शातिराना है चाल किस दर्जा शातिराना है मेरा दुश्मन बहुत से आना है चोट जब एक बार खा जाए फिर उसी बिल से क्यों डसा जाए चोट जब एक बार खा जाए फिर उसी बिल से क्यों डसा जाए खुद को एहसास ये दिलाना है मेरा दुश्मन बहुत सियाना है